और उन्हें आप उस शख्स की खबर पढ़कर सुनाएं जिसे हमने अपनी आयात अदा की तो वो उनसे साफ निकल गया फिर शैतान ने उसको अपने पीछे लगा लिया तो वो गुमराहों में से हो गया